ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतनी बात पर अपने घरों से नाहक निकाला गया है कि उन्होंने ये कहा था कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है और अगर अल्लाह लोगों के एक ग्रोह के शर को दूसरे के जरिए दफा ना करता रहता तो खानकाहें और कलीसा और इबादत गाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है सब मिसमार कर दी जाती और अल्लाह ज़रूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेंगे بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے